सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु जारै भुवन चारि दश आसु सक संग्राम जीति कोताहे से वहि सुर नर अग जग जाहि यह कौतूहल जानै सोए जा पर कृपा राम के होए संध्या भये फिरे दव बाहिनी लगे संभारज निज निज आने शिव जी कहते हैं हे गिरजे सुनो प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि चौदहों भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण बूझ करुणा कर तब आए अनुमाना अनुज देखी प्रभु अति दुख जामवंत कह वैद सुसेना नंकार को पठई धर लघु रूप गय हनुमंता आने भवन समेत तुरंता व्यापक ब्रह्म अजेय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और कल्याण की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है तब तक हनुमान उन्हें ले आए छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना जाम्बोल ने कहा लंका में सुषेण वैद्य रहता है उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए राम पदार बिंद सिर नाय आय सुखेन कहा नाम गिर औषधे जाहु पवन सुतले सुशील ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया अपने पर्वत और औषध का नाम बताया उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र औषधि लेने जाओ राम चरण सर राखी चला प्रभञ्जन सुतबलभी वहा दूत एक मरम जनावा राम रावणकाल काल गृहया वा दशमुख मरमुते मरमतेहि सूनां पुनि पुनि काल निमिसिर धुना देखत तमहि नगर जहि जारा पन्थ को रोकन पारा राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी ले आता हूँ ऐसा कहकर चले उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी तब रावण कालनेमी के घर गया रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा खेत प्रकट किया उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है भज रघुपति करु हितयापना छाड़हुनाथ मिसा जल पड़ा नीलकंज तनु सुंदर श्यामा हृदय राखुलो मैं भिरामा मोर तं मोर मूढता त्यागो महमोहनि काल ब्याल ब्याल भक्षक भक्षक जोई सपने हु समर की जीती सोई श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ झूठी बकवाद छोड़ दो नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो सो जाग उठो जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है सुनिदस कंठरिसानयते तही मन के विचार राम रामदूत कर मरऊ बरो फलरत मल भार उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ तब नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है